शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें और ये है ही क्या सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं और जब उन्होंने कहा कि अय अल्लाह अगर यह कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला आजाब भेज दे और अल्लाह ऐसा न था कि जब तक है पैगंबर तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता और न ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं जबकि वो उस मस्जिद के मुतवली भी नहीं है इसके मुतवली तो सिर्फ परहेजगार हैं लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते और इन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी तो तुम जो कुफर करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोकें सो अभी और खर्च करेंगे मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोजक की तरफ हाके जाएंगे ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे फिर उसको दो जख्म डाल दे यही लोग खसारा पाने वाले हैं ए पैगंबर कुफार से कह दो कि अगर वो अपने अफाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो उन्हें मुआफ कर दिया जाएगा और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में भी बरता जाएगा और इन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना यानी कुफर का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है और अगर रूगरदानी करें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है और जान रखो कि जो माल गनीमत तुम कुफार से हासिल करो उसमें से पांचवा हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहल कराबत और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंग बद्र में जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई थी हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लाम पर नाजिल फरमाई और अल्लाह हर चीज पर कादिर है जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुन पर जमा होने में तकदीम ताखिर हो जाती लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है जानता है उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है मोमिनो जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो अमाल ये करते हैं अल्लाह उनका अहाता किए हुए है और जब शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूं लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है और काश तुम तो उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जाने निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के आजाद का मजा चखो ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजी हैं और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया बेशक अल्लाह जबरदस्त है सख्त अजाब देने वाला है ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया और वो सब जालिम थे जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं सो वो ईमान नहीं लाते जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुष्ट हों वो उनको देखकर भाग जाएं अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हो और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता और काफिर यह ख्याल हरगिज न करें कि वो आगे निकल गए हैं वो हमें आजिज नहीं कर सकते और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा और अगर ये लोग सुलह की तरफ मायल हो तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है जानता है और अगर ये चाहें कि तुमको फरेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफायत करेगा वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तकवीत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी बेशक वो जबरदस्त है हिकमत वाला है ए नबी अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है ए नबी मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो अगर तुम में बीस आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो दो सौ काफिरों पर गालिब रहेंगे और अगर सौ ऐसे होंगे तो हजार पर गालिब रहेंगे इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है बस अगर तुम में एक सौ साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो दो सौ पर गालिब रहेंगे और अगर एक हजार होंगे तो अल्लाह के हुक्म से दो हजार पर गालिब रहेंगे और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दे तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है और अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता अब जो मारे गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है और अल्लाह से डरते रहो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है ए पैगंबर जो कैदी तुम्हारे कब्जे में यानी गिरफ्तार हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुना भी मुआफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके हैं तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया और अल्लाह दाना है हिकमत वाला है जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं और अगर वो तुमसे दीन के मामला में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो मदद नहीं करनी चाहिए और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं तो मोमिनो अगर तुम ये काम न करोगे तो मुल्क में फितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की यही लोग सच्चे मुसलमान हैं इनके लिए अल्लाह के यहां बख्शिश और इज्जत की रोजी है और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे वो भी तुम्ही में से हैं और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है एहल इस्लाम अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है सो मुशरको तुम जमीन में चार महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे और यह भी कि अल्लाह काफिरों को रसुआ करने वाला है और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे और अ पैगंबर काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो अलबत्ता जिन मुशरकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और जक़ात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है और अगर कोई मुशरक तुमसे पनाह का खासगार हो तो उसको पनाह दे दो यहां तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं भला मुशरकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहद कैसे कायम रह सकता है हाँ जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका यह हाल है कि अगर तुम पर गलबा पा लें तो ना कराबत का लिहाज करें ना अहद का ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देती हैं लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोकते हैं कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं ये लोग किसी मोमिन के हक में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं ना अहद का और ये हद से तजावज करने वाले हैं अब अगर ये तौबा कर लें और नमाज पढ़ने और जक़ात देने लगें तो दीन में तुम्हारे भाई हैं और समझने वाले लोगों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं और अगर अहद करने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन में तानाजनी करने लगे तो इन कुफर के पेशवाओं से जंग करो इनकी कस्मों का कुछ एतबार नहीं है अजब नहीं कि अपनी हरकत से बाज आ जाएं। भला तुम ऐसे लोगों से क्यों ना लड़ो जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ डाला और पैगंबर को वतन से निकालने का इरादा कर लिया और इन्होंने तुमसे अहद शिकनी की इब्तदा की क्या तुम ऐसे लोगों से डरते हो सो डरने के लायक तो अल्लाह है अगर तुम ईमान वाले हो इनसे खूब लड़ो अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब में डालेगा और इन्हें रुसवा करेगा और तुमको इन पर गलबा देगा और मोमिन लोगों के सीनों को शिफा बख्शेगा और इनके दिलों से गुस्सा दूर करेगा और अल्लाह जिस पर चाहेगा तवज्जो फरमाएगा और अल्लाह सब कुछ जानता है हिकमत वाला है क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो कि बे आजमाइश छोड़ दिए जाओगे और अभी तो अल्लाह ने तुम में से ऐसे लोगों को परखा ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफर की गवाही दे रही हूं इन लोगों के सब अमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोजख में रहेंगे अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोज क्यामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और जक़ात देती हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा को आबाद करना उस शख्स के अमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे अल्लाह के यहां उनके दराजात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं उनका परवरदिगार उनको अपनी रहमत की और खुशनुदी की और बहिश्तों की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए अवधि नेमत है और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे कुछ शक नहीं कि अल्लाह के यहां बड़ा सिला तैयार है ए अहले ईमान अगर तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ईमान के मुकाबिल कुफर को पसंद करें तो उनसे दोस्ती न रखो और जो उनसे दोस्ती रखेंगे वो जालिम हैं कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीट फेर गए फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्की नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया और कुफर करने वालों की यही सजा है फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है मोमिनो मुशरक तो पलीद हैं तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न जाने पाए और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है हिकमत वाला है जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न रोजे आखिर पर यकीन रखते हैं और न उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किए हैं और न दीन हक को कबूल करते हैं उनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देने लगे और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं ये इनके मुंह की बातें हैं पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं अल्लाह इनको हलाक करे ये कहां बहके फिरते हैं इन्होंने अपने उलमा और मशाइ और मसीह इबन मरियम को अल्लाह के सिवा मबूद बना लिया हालांकि इनको यह हुक्म दिया गया था कि मबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत ना करें उसके सिवा कोई मबूद नहीं और वो इन लोगों के शरीक मुकर्र करने से पाक है ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे अगरचे काफिर नाखुश ही हों मोमिनो अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइ लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करते उनको उस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो जिस दिन वो माल दोजख की आग में खूब गर्म किया जाएगा फिर उससे उन बकीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में बारह हैं उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया अल्लाह की किताब में साल के बारह महीने लिखे हुए हैं उनमें से चार महीने अदब के हैं यही दीन का सीधा रास्ता है तो इन महीनों में किताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है अदब के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफर में बढ़ जाना है इससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं एक साल तो इसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम ताकि अदब के महीनों की जो अल्लाह ने मुकर किए हैं गिनती पूरी कर लें और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज कर लें उनके बुरे अमाल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हिदायत नहीं दिया करता मोमिनो तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो यानी घरों से निकलना नहीं चाहते क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया उस वक्त दो ही शख्स थे जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह तु थे दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दोनों गारे सौर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे और काफिरों की बात को पस्त कर दिया और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त है हिकमत वाला है तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत घरों से निकल आओ और अल्लाह के रस्ते में माल और जान से जिहाद करो यही तुम्हारे हक में बेहतर है बशर्ते के समझो अगर माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर भी हल्का होता तो ये तुम्हारे साथ शौक से चल देते लेकिन मुसाफत इनको दूर दराज नजर आई तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ जरूर निकल पड़ते ये इस तरह अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं अल्लाह तुम्हें मुआफ करे तुमने पेशतर इसके कि तुम पर वो लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वो भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं इनको इजाजत क्यों दी जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं बल्कि चाहते हैं कि अपने माल और जान से जिहाद करें और अल्लाह परहेजगारों से वाकिफ है इजाजत वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं सो वो अपने शक में डावा डोल हो रही हैं और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए सामान तैयार करते लेकिन अल्लाह ने उनका उठना और निकलना पसंद ही ना किया तो उनको हिलने जुलने ही ना दिया और उनसे कह दिया गया कि जहां माजूर बैठे हैं तुम भी उनके साथ बैठे रहो अगर वो तुम में शामिल होकर निकल भी खड़े होते तो तुम्हारे दरमियान शरारत करते और तुम में फसाद डलवाने की गरज से दौड़े दौड़े फिरते और तुम में उनके जासूस भी हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है ये पहले भी तालिब फसाद रहे हैं और बहुत सी बातों में तुम्हारे लिए उलट फेर करते रहे हैं यहां तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हुआ और वो बुरा मानते ही रह गए और उनमें कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाजत ही दीजिए और आफत में न डालिए देखो ये आफत में पड़ गए हैं और दोजख सब काफिरों को घेरे हुए है ए पैगंबर अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था और खुशियां मनाते लौट जाती हैं कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुज उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें आजाद दिलवाए सो तुम भी इंतजार करो हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करती हैं कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा तुम नाफरमान लोग हो और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवाय इसके कि इन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफर किया और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर और खर्च करते हैं तो नाखुशी से बस तुम इनके माल और औलाद से ताज्जुब ना करना अल्लाह चाहता है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में इनको अजाब दे और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों और अल्लाह की कस्में खाते हैं कि वो तुम्ही में से हैं हालांकि वो तुम में से नहीं है असल ये है कि वो डरपोक लोग हैं अगर इनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गार या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तोड़ाते हुए भाग जाए और इनमें बाज ऐसे भी हैं कि तकसीम सदाकत में तुम पर तानाजनी करते हैं अब अगर इनको उसमें से खातिर खा मिल जाए तो खुश रहें और अगर उस कदर ना मिले तो झट खफा हो जाए और अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था और कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे और हमें तो अल्लाह ही की रजा मतलूब है तो इनके हक में बेहतर होता सदाकत यानी जक़ात और खैरात तो मुफलिसों और नादारों और कारकुनान सदाकत का हक है और उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है और गुलामों के आजाद कराने में और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए ये मसारिफ अल्लाह की तरफ से मुकर्र कर दिए गए हैं और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है और इनमें बाज ऐसे हैं जो पैगंबर को ईजा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स निरा कान है इनसे कह दो कि वो कान है तो तुम्हारी भलाई के लिए वो अल्लाह का और मोमिनों की बात का यकीन रखता है और जो लोग तुम में ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है और जो लोग अल्लाह के रसूल को रंज पहुंचाते हैं उनके लिए अजाब अलीम तैयार है मोमिनो ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुमको खुश कर दें हालांकि अगर ये दिल से मोमिन होते तो अल्लाह और उसके पैगंबर इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि ये उन्हें खुश करें क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा ये बड़ी रसवाई है मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई ऐसी सूरत न उतर आए कि उनके दिल की बातों को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे कह दो कि हंसी किए जाओ जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको जरूर जाहिर कर देगा और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे कहो क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से दिल लगी करते थे उज्र मत पेश करो तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो अगर हम तुम में से एक जमात को मुआफ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरा काम करने को कहते और नेक काम उसे मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको भुला दिया बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतश जहन्नम का वादा किया है जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे वही उनको काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और माल औलाद में कहीं ज्यादा थे तो वो अपने हिस्से से फायदा उठा चुके सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए और अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और जक़ात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इतात करते हैं यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा बेशक अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं वो उनमें हमेशा रहेंगे और अबदी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा किया है और अल्लाह की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है यही बड़ी कामयाबी है ए पैगंबर काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो और इनका ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है ये अल्लाह की कस्में खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा हालांकि इन्होंने कुफर का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कस्त कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार न होगा और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकूकारों में हो जाएंगे लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुखल करने लगे और अपने अहद से रूगरदानी करके फिर बैठे तो अल्लाह ने उसका अंजाम यह किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें ये अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे इनके दिलों में निफाक डाल दिया इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया और इसलिए कि ये झूठ बोलते थे क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह इनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है और ये कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है जो मुसलमान दिल खोलकर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो बराबर है अगर इनके लिए सत्तर दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता जो लोग गजवाए तबूक में पीछे रह गए वो अल्लाह के पैगंबर की मर्जी के बरखिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना इनसे कह दो कि दोजख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है काश ये इस बात को समझते ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा फिर अगर अल्लाह तुमको इनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से जंग करोगे तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो और अ पैगंबर इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे और इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना इन चीजों से अल्लाह ये चाहता है कि इनको दुनिया में अजाब करे और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करती हैं और कहती हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि हम बैठ रहने वालों के साथ हो जाएं। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है सो ये समझते ही नहीं लेकिन पैगंबर और जो लोग इनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े इन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं हमेशा उनमें रहेंगे यही बड़ी कामयाबी है और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाजत दी जाए और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे सो जो लोग उनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा न तो जयीफों पर कुछ गुना है और न बीमारों पर और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं के शरीक जिहाद हों यानी जबकि अल्लाह और उसके रसूल से मुखलिस हों नेकूकारों पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है और न उन बेसरो सामान लोगों पर इल्जाम है कि जो तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर तुमको सवार करूं तो वो लौट गए और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे इल्जाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और फिर तुमसे इजाजत तलब करते हैं यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे हैं अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है बस वो समझते ही नहीं जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे तुम कहना कि उज्र मत करो हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे अल्लाह ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे अमल को देखेंगे फिर तुम गायब और हाजिर के जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे तो जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा صدق الله العظيم